तृतीय मंत्र का वाक्य भाष्य चल रहा था कहाँ से चलेगा प्रथम से क्या प्रतीक क्या है प्रथम पंक्ति है ना हाँ, तो मैं पहले से उनसे कोई बना करते सैंतीस पृष्ठ प्रथम पंक्ति कहते हैं पैंतीस में थोड़ा सा पहले हुआ था तो ये विशेषण संबंधा स्वरूप समारोपितो विशिष्टो भाति विशिष्ट स्वरूप में आरोपित है और विशिष्ट मिथ्या है क्योंकि विशेषण युक्त है कथम आत्मत्व व्यवहारास्पदत्व विशिष्ट कैसे आत्मा होगा इसलिए कहा अंतर्गत नित्य विज्ञान स्वरूपेण नित्य विज्ञान स्वरूप विशिष्ट के अंतर्गत है आकाशवत अप्रचलित आत्मना आकाश के समान अप्रचलित स्वरूप जिसका अंतर्गर्भभूत न वो अंतर्गर्भभूत है बाह्य बुद्धियात्मा तद विलक्षण बाह्य बुद्धि विशिष्ट आत्मा उससे विलक्षण है अर्चिभिर इव अग्नि ही अर्चि ज्वाला से अग्नि जैसे अग्नि से बाहर ज्वाला है इसी प्रकार प्रत्ययर आविर्भाव तिरुभाव धर्म विज्ञान विज्ञानाभास रूपेर अनित्येर अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी अभिभगतो लौकिकेर अतो अन्यो नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मनः जिस प्रकार अग्नि अंदर है बाहर ज्वाला है अंदर अग्नि है ज्वाला बाहर है इसी प्रकार अंतर शुद्ध चिद्रूप रूप चेतन है चित स्वरूप है अप्रचलित रूप है उसे बाहर है बुद्धि विशिष्ट आत्मा बुद्धि उपाधि का उसे विलक्षण अर्ची भी जैसे जो अग्नि प्रत्यय ही प्रत्यय बुद्धि का प्रत्यय वृत्ति जिनका आविर्भाव तिरुभाव होता है उत्पत्ति नाश आविर्भाव तिरुभाव धर्म के ही आविर्भाव तिरुभाव धर्म ये शाम प्रत्ययानाम ते प्रत्ययाः आविर्भाव तिरुभाव धर्म का ते ही आविर्भाव तिरुभाव धर्म वाले उत्पत्ति नाश वाले प्रत्यय से जो वस्तुतः वृत्ति है प्रत्यय उसको ज्ञान कहते ज्ञान तो वास्तव नहीं है शुद्ध ज्ञान तो नित्य है किंतु अंतकण का परिणाम वृत्ति है वो विज्ञान आभास रूपे ही विज्ञान आभास विज्ञान का आभास नित्य विज्ञान है ब्रह्म उसका आभास प्रत्यय में वृत्ति में है उत्पत्ति नाश वाले वृत्ति में चिदाभास है वो अनित्य है ही अनित्य विज्ञान आत्मा ऐसे कहा जाता अनित्यम विज्ञानम यस्य आत्मा में विज्ञान अनित्य आत्म स्वरूपत नित्य ज्ञान है किंतु बुद्धि उपाधि का आत्मा में जीव में बुद्धि में वृत्ति होती है वो वृत्ति उत्पत्ति नाश वाले है उसमें चिदाभास के संबंध से वृत्ति में उपचार वृत्ति में जड़ है तो अंतकण का परिणाम है तो चिदाभास के संबंध से वो ज्ञान जैसे लगता है जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखने से वो घड़ा में आकाश है बच्चे ऐसा कहते हैं इसी प्रकार ये वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब संबंध होने से उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं ज्ञान दो है प्रकार है एक नित्य और एक अनित्य ज्ञान नित्य ज्ञान तो स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म किंतु घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान जो कहा जाता है वो अनित्य ज्ञान है वो ज्ञान शुद्ध चिद रूप नहीं है वृत्ति है घटाकार पटाकार रूपाकार वृत्ति अंतकरण परिणाम तो वृत्ति जड़ होने पर भी उसको ज्ञान कहा जाता है क्योंकि वृत्ति स्वच्छ है उसमें चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास होता है चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहते हैं ज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं वृत्तिध बोध अथवा बोधेद्ध वृत्ति वृत्ति अंतकण परिणाम वृत्तिध इध अभिव्यक्त दीप्त प्रकाशित वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहते हैं वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है जिसे दर्पण मुख की अभिव्यक्ति प्रतिबिंब दिखता है इसे वृत्ति में अचैतन्य की अभिव्यक्ति होने से चैतन्य हो गया वृत्ति अभिव्यक्त वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहीं कहीं वृत्ति आरूढ़ भी कहते हैं दर्पण में मुख दिखता है तो मुख दर्पण में कहते हैं दर्पण में कोई मुख नामक वस्तु है ही नहीं दिखता है तो भी कहते दर्पण में मुख इसी प्रकार वृत्ति में चैतन्य आरूढ़ हुआ उपस्थित हुआ ऐसे कहा जाता है चंद्र जल में चंद्र चंद्र का प्रतिबिंब देखकर कहते जल में चंद्र है इसी प्रकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य भी कहते हैं वृत्ति अविभक्त चैतन्य अथवा वृत्ति आरंभ चैतन्य ये कहा जाता है वृत्तिध बोध बोधे ज्ञान चिद्रूप अथवा बोधेद्धा वृत्ति बोधेद्धा वृत्ति का अर्थ चेतन विशिष्ट वृत्ति चेतन विशिष्ट चिद्रूप शुद्ध स्वरूप तो सर्वत्र है चिदाभास दिखता है चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को कहा जाए अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहे दोनों में एक अर्थ है वृत्ति है विशेष्य और विशेषण है चिदाभास तो विशेषण कहीं चिदाभास को विशेष कर देंगे वृत्ति को विशेषण करेंगे तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहेंगे जो चैत अभिव्यक्त होता है दर्पण में जो मुख अभिव्यक्त होता है वो मुख तो वास्तव है किंतु दर्पण में दिखने वाला मुखाभास है तो विशेष्य चैतन्य को करेंगे तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहा जाएगा अब विशेष से वृत्ति को करेंगे तो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहा जाएगा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ऐसे शब्द से कहा जाता है अनित्य ज्ञान है वृत्ति है अभिव्यंजक चैतन्य का अभिव्यंजक वृत्ति अनित्य होने से तद अभिव्यक्त चैतन्य को अनित्य कहा जाता है तो वो ज्ञान है अनित्य ज्ञान प्रत्यय अनित्य प्रत्यय जो उत्पत्ति नाश वाला विज्ञान आभास है चिदा वास्तव ज्ञान नहीं है वास्तव तो ज्ञान स्वरूप है नित्य ये विज्ञान आभास रूप अनित्य है उससे आत्मा में आत्मा है अंतकरण विशिष्ट विशिष्ट आत्मा बुद्धि विशिष्ट आत्मा बुद्धि में वृत्ति होने से बुद्धि विशिष्ट आत्मा में ज्ञान का भान होता है बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य हुआ बुद्धि में वृत्ति होने से वो वृत्ति आत्मा के प्रतिबिंब बुद्धि में है तो प्रतिबिंब होने से जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब है जल के कंपन आकाश का कंपन दिखता है जल के कंपन होने से आकाश चंद्र कंपन दिखता है प्रतिबिंब में इसी प्रकार बुद्धि में वृत्ति होने पर वृत्ति के साथ बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्यापन्न होता है एकत्व भान होता है तो आत्मा में ज्ञान भान होता है दिखता है अनित्यम विज्ञानम यस्मिन आत्मनि स आत्मा अनित्य विज्ञान अनित्य विज्ञान वाला आत्मा वो आत्मा शुद्ध नहीं है बुद्धि अभी बुद्धि विशिष्ट है अंतकण विशिष्ट चेतन है उसमें दिखता है अंतकण में वृत्ति हुई तो अंतकण विशिष्ट चेतन में अनित्य ज्ञान दिखता है अंतकण में सुख दुख संकल्प इच्छा ये सब उत्पन्न होते हैं अंतकण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास होने से अंतकण के धर्म आत्मा में दिखते हैं जैसे अय पिंड और अग्नि दोनों का एकत्व होने से लाल हो जाता अग्नि से लौह पिंड तो अग्नि का धर्म दग्धृत लोह में दिखता है लोह का अवर्तुलत्व वह्नि में दिखता है इसी प्रकार अंतकण के साथ आत्मा का तादात्म्य एकत्व भान होता है आत्मस्वरूप का विवेक नहीं होने से अंतकण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास हुआ क्योंकि अंतकण में चिदाभास दिखता है अंतकण चेतन का प्रतिबिंब तो अंतकरण का धर्म आत्मा में दिखता है अंतकरण का धर्म ही सुख दुख बुद्धि इच्छा काम आदि वो दिखता है आत्मा में कहता आत्मा सुखी दुखी ऐसे माना गया अभिभगत स्वीकृत लौकिक सामान्य लोक शास्त्र संस्कार रहित सामान्य लोक मानते मैं सुखी दुखी ज्ञानी अतो अन्यो नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मन इसलिए यह हुआ अन्य है नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मन अन्य नित्य विज्ञान आत्मा से जीव वाच्य अलग है टीका में बुद्ध्यादो कार्यकण संघाते यह आत्मा अभिमान न है विशिष्टांतर्गतेन ये विशिष्टांतर्गतेन चित्त स्वरूपेण विशिष्ट के अंतर्गत चित्त स्वरूप है विशिष्टांतर्गत चित्त स्वरूपेण तादात्म्याद चित्त स्वरूप के साथ बुद्धि का तादात्म्य होने से बाह्य इति अनात्मापि बाह्य कहा गया अनात्मापि अनात्मा को बाह्य का आत्मा से भिन्न बुद्धि विशिष्ट आत्मा इति अभिभगत लौकिक ही बुद्धि विशिष्ट को आत्मा कहा गया ये बुद्धि विशिष्ट चेतन वही जीव शब्द का वाच्यार्थ है अत इत्युक्त धर्मवत्वाद अस्तु नित्य विज्ञान आदि विलक्षण जीव कथम एतावता विरोध परिहृत इति आकांक्षायम आह अत इति उक्त धर्मवत्वा अत अन्यो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मन नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से अन्य है क्योंकि उक्त धर्मवत्वा उक्त धर्म है प्रत्यय उत्पत्ति नाश वाले प्रत्यय धर्म वाला है आविर्भाव तिरुभाव धर्म वाले होने से वह आत्मा से भिन्न है ठीक है अस्तु नित्य विज्ञान आदि विलक्षण जीव नित्य विज्ञान स्वरूप से जीव अंतकण विशिष्ट चेतन अथवा चिदाभास विशिष्ट अंतकण विलक्षण हो कथम एतावता विरोध परिहृत विरोध कैसे नित्य ज्ञान स्वरूप उसमें अनित्य ज्ञान कैसे ज्ञान अज्ञान कैसे होगा तो वहाँ ज्ञान का उपदेश की आवश्यकता है तो ज्ञान स्वरूप है ये सो कहा था इतः तत्वमसि नहीं तत्र कथम एतावत विरुद्ध प्रहृत इति आकांक्षायामः तत्र ही तत्र ही विज्ञान अपेक्षा जो विशिष्ट आत्मा है अंतकरण विशिष्ट जीव तम शब्द का वाच्यार्थ उसमें विज्ञान की अपेक्षा है उसमें भ्रम ज्ञान भी है विपरीत ज्ञानत्वं च उपपद्यते शुद्ध चेतन में ज्ञान की अपेक्षा नहीं भ्रम नहीं कुछ नहीं ये विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट है जीव शब्द का वाच्यार्थ उसमें विज्ञान की अपेक्षा और भ्रांति ज्ञान विज्ञान विपरीत ज्ञान तो से हो सकता है न पुनः नित्य विज्ञान नित्य विज्ञान में ना तो ज्ञान उपदेश की आवश्यकता है ना तो ज्ञान है ना तो भ्रांति ज्ञान है है मैं एवं लोकानुभव विरोधे परिहृतेपि शास्त्र विरोध न परिहृत आह लोकानुभव का विरोध परिहार हो गया परिहार हो गया क्योंकि विशिष्ट में ही आत्मव्यवहार लोग करते हैं सुखी दुखी व्यवहार करते हैं किंतु शास्त्र में भी तो उपदेश किया गया था आत्मान में अवे तो हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आदि उपदेश किसको किया जाता है वो तो रूप चेतन ज्ञान नित्य है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं तो ज्ञान उपदेश की क्या जरूरत है ये शास्त्र विरुद्ध का परिहार कैसे हुआ ये तो परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा उनसे कहते तत्वमसि इति बोधोपदेशो नोपपद्यति चित इति चेत तत्त्वमसिति बोध के लिए जो उपदेश किया जाता है वो तो नहीं बनेगा शुद्ध चिद रूप है उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान निरपेक्ष है तो फिर बोध का उपदेश क्या क्या आवश्यक है आवश्यकता है उपन न अप्रामाणिक होगा इति चेत टीका में विशिष्टस्य मिथ्यात्वात् ब्रह्मास्मित अनुभवायवात् मोक्षारहत्वायुवाच तत्त्वमसिति उपदेश न घटते चेत तरी ब्राह्मण एव उपदेश अस्तु इति आशंका जो विशिष्ट है अंतकण विशिष्ट है अब विशेषण अंतकण मिथ्या होने से अंतकण विशिष्ट भी मिथ्या हो गया यदि विशिष्ट कोई शुद्ध स्वरूप से विलक्षण मिथ्या है ब्रह्मास्मित अनुभव विगात शुद्ध ब्रह्म उसको ब्रह्मास्मि अनुभव तो कोई आपत्ति नहीं जो मिथ्या है विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट बुद्धि बुद्धि अंतकण विशिष्ट चेतन वो तो मिथ्या है मिथ्या को में ब्रह्म ज्ञान होगा तो तो ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्मास्मिता अनुभव नहीं हो सकता वो तो ब्रह्म ही नहीं वो तो मिथ्या है ब्रह्म तो सत्य है ब्रह्मास्मि अनुभव नहीं हो सकता है और मोक्षारह त्वयुगाच जिसको हम ब्रह्म ज्ञान होगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा वो तो मिथ्या है मोक्ष काल में नहीं रहेगा मोक्ष के योग्य नहीं है तो फिर तत्वमसि तो उपदेश न घटते चेत तो विशिष्ट के लिए जीव के लिए तत्वमसि उपदेश नहीं बनेगा यदि जीव के लिए नहीं बनेगा तरी ब्राह्मण एवं उपदेश वस्तु तो ब्रह्म का ही उपदेश हो तत्वम से उपदेश वो मुख्य काल में रहेगा अनुभव हो जाएगा हम ब्रह्म इति आशंका आत्मानमेव अवेदित्य एवं आदि च नित्य बोधात्मकत्वात् तत्त्वमसिति बोध नहीं बनेगा आत्मानमेव अवेद ब्रह्मवाइदम अगर आसी तद आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मिति ब्रह्म स्वयं अपने को जाना मैं ब्रह्म हूँ आत्मान में तो अपने को जाने में ब्रह्म ये भी क्या बनेगा शुद्ध ब्रह्म है नित्य बोधात्मक है फिर उसको ज्ञान हुआ में ब्रह्म ये क्या जरूरत हो तो ज्ञान स्वरूप है इतने इत्या इते इतेवम आदिनि च नोपपद्यंत ये भी नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा नित्य बोधात्मकता तो वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप है नित्य जो ज्ञान सर्व शुद्ध है उसके लिए बोध उपदेश और उसको ज्ञान हुआ ये सब नहीं बनेगा टीका में एवं ने वाक्यानि ब्रह्मोदेश पक्षे न संगच्छन्ते तजनित फलाभावति इत्यर्थ आत्मानव अवेत तत्वमसि इति वाक्य है ब्रह्म उपदेश ब्रह्म को उपदेश करेंगे ब्रह्म उपदेश ब्रह्म के लिए उपदेश पक्ष मानेंगे तो ये वाक्य नहीं बनेंगे न संगच्छन्ते क्योंकि ब्रह्म के लिए उपदेश जनित फल क्या है ब्रह्म को कहें तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म अपने को जाना मैं ब्रह्म हूं ये सब नहीं बनेगा ब्रह्म के लिए उपदेश मानेंगे तो ये वाक्य संगत नहीं होते क्योंकि वाक्य जन्य कोई फल अभाव नित्य ज्ञान सर्वे वाक्य से ज्ञान होगा तो ज्ञान क्या करेगा वो तो नित्य ज्ञान है वाक्य जन्य फल अभाव वाक्य जन्य फल है बोध ज्ञान ज्ञान तो शुद्ध चेतन में कुछ ज्ञान उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है वाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान ब्रह्म में कुछ नहीं होगा व्यर्थ है विशिष्टस्य निरुपाधिकस्य च ब्रह्मण उपदेशा संभवेपि उपाधि विशिष्ट स्वरूप जीव पद लक्ष्यस्य वैशिष्ट द्वारा न उपदेश भविष्यति फलम तस्य आरोपित बंध निवृत्ति इत्याह विशिष्टस्य निरुपाधिकस्य च ब्रह्मण उपदेशा संभवेपि विशिष्ट में अंतकरण विशिष्ट चेतन में जीव में अनिरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म में निरपाधिक से जो ब्रह्मण उसके लिए उपदेश असंभवेपि उसका उपदेश तुम ब्रह्म हो ये कोई जरूरत नहीं असंभव है विशिष्टगत मिथ्या है उसको ब्रह्म उपदेश व्यर्थ है और मोक्ष काल में विशिष्ट नहीं रहेगा मोक्ष के लिए योग्य नहीं निरपाधिक ब्रह्म मोक्ष काल में तो रहेगा किंतु उसको ब्रह्म उपदेश वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप है उपदेश नहीं होने पर भी उपाधि विशिष्ट चित स्वरूप जीव पद लक्ष्य से उपाधि विशिष्ट चित्त उपाधि विशिष्ट चित्त स्वरूप जो उपाधि से विशिष्ट होता है चित्त स्वरूप जीव पद लक्ष्यस्य जीव पद लक्ष्य का अर्थ उपाधि से युक्त होने से उसको कहते उपहित जीव पद का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य है जो कि उपाधि से विशिष्ट होता है विशिष्ट लक्ष्य शब्द से विशिष्ट नहीं लेना जो चित्त स्वरूप उपाधि युक्त है उपहित वही उपाधि विशिष्ट होता है विशिष्ट तो शुद्ध ही विशेषण युक्त होकर के विशिष्ट कहा जाता है जीव पद लक्ष्य में ही उपदेश बनेगा वैशिष्ट द्वारा न वैशिष्ट संबंध है उसमें संबंध का प्रतियोगी लक्षण या लक्ष्य उपस्थित हो शक्यस्य संबंध प्रतियोगितया द्वारत्वात् शक्य संबंध लक्षणा शक्य का संबंध विशिष्ट होता है शक्य तोम पद का वाच्यार्थ जीव उसका संबंध शुद्ध के साथ है तो शुद्ध के लक्ष्य करने के लिए वैशिष्ट संबंध के द्वारा संबंध का प्रतियोगी जीव जीव का संबंध शुद्ध में उसके द्वारा उपदेश हो जाएगा भविष्य उपहित में और फलम तस्य आरोपित बंध निवृत्ति फल क्या होगा उपदेश का चेतन में फल बंधन है ही नहीं तो भी आरोपित है बंधन आरोप शुद्ध में ही आरोपित है सब कुछ संसार चेतने में आरोपित है आरोपित से बंध से निवृत्ति बंध उसे में आरोपित है आरोप निवृत्ति के लिए सार्थक है ज्ञान लोक में भी भ्रांति निवृत्ति के लिए ज्ञान माला गला गला में है गले में है माला भ्रांति हो गई माला नहीं है तो ज्ञान हो गया आरोप की निवृत्ति हो गई रज्जु में सर्प का आरोप होता है रज्जु उपदेश हो ज्ञान हो गया आरोप का निवृत्ति हो गई इसी प्रकार आरोपित बंध है आत्मा में उसकी निवृत्ति सिद्धा भाष्य में न आगे पहले नहीं आदित्य अन्यन प्रकाश्यते अत तदर्थ बोध उपदेश अनर्थ की दिचे न आदित्य अन्यन प्रकाश्यते आदित्य स्वयं प्रकाश रूपे उसको अन्य प्रकाश से प्रकाशित ऐसा नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा तो शुद्ध चित रूप है उसको बोध उपदेश करेंगे अन्य ज्ञान से प्रकाशित होगा वो शुद्ध ज्ञान रूप है अन्य ज्ञान उसकी क्या आवश्यकता है अतः तदर्थ बोध उपदेश अनर्थक इसलिए शुद्ध चैतन्य के लिए बोध उसके लिए बोध उपदेश तत्त्वमसि ये व्यर्थ है इति चेत सिद्धांतिकता न लोका अध्यारोप आपोहार्थत्वाद लोक से जो आरोप है बंध बंध का अपनिवृत्ति के लिए बंध निवृत्ति के लिए आरोपित बंध निवृत्ति के लिए अभी लोक अध्यारोप लोक शब्द से क्या कहते हैं टीका में नन लोक शब्देन आत्मोच्यते अनात्मा लोक अध्यारोप लोक शब्द से क्या आत्मा लेना अथवा अनात्मा लेना यदि आत्मा लेंगे नाद्य आत्मनो अधिष्ठानतया लोक के द्वारा आरोपित लोक आरोप करेगा लोक अध्यारोपित लोके आरोपित अध्यारोप लोकों का जो अध्यारोप लोक सदस्य दे आत्मा लेंगे आत्मा तो अधिष्ठान है जो अधिष्ठान है वो अध्यास का कर्ता तो नहीं बनेगा वो आरोप क्या करेगा शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान है वो आत्मा वो अध्यास का कर्ता नहीं बनेगा अध्यारोप का कर्ता नहीं बनेगा लोकों का अध्यारोप आरोप कैसे होगा अधिष्ठान अध्यास कर्ता नहीं हो सकता है कर्तृत्व संभवात क्योंकि कोई व्यक्ति सुक्ति में रजत दिखता है चैत्र सुक्ति में रजत दिखता है या सुक्ति स्वयं अपने में आरोप करती रजत को चैत्र ही सुक्ति कायम रजतम अध्यसति न सुक्ति केव चैत्र अलग है अध्यास का कर्ता सुक्ति में रजत आरोप करता है न कि अधिष्ठान सुक्ति स्वयं रजत का आरोप करती सत नहीं होता है इसलिए अधिष्ठान चैतन्य आरोप का कर्ता नहीं बनेगा तो लोक का शब्द से यदि लेंगे शुद्ध चैतन्य उसका आरोप होता ही नहीं अध्यास करते च आत्मन अजित लोक शब्द से आत्मा लेंगे और उसको मानेंगे अध्यास का कर्ता लोक आरोप करेगा अध्यास का कर्ता जो कर्ता होता है घट का कर्ता घट बनने के पहले रहता है बाद में होना चाहिए कर्ता तो पहले रहेगा तो घट रूप कार्य बाद में उत्पन्न होता है यदि आत्मा अध्यास का कर्ता मानेंगे तो आत्मा पहले रहा अध्यास कर्तृत्व च आत्मन प्राग एव अध्यासात तो अध्यास के पहले आत्मा रहेगा अध्यास के पहले आत्मा नहीं रहेगा तो अध्यास का कर्ता कैसे बनेगा प्राग एव अध्यासात तो अध्यास के पहले आत्मा था वो आत्मा में शक्ति थी अध्यास करने के लिए तभी तो अध्यास करेगा कुलाल में सामर्थ्य घट बनाने के लिए तो घट बनाता है तो घट बनाने के पहले कुलाल में शक्ति है या नहीं शक्ति तो प्रयत्न करेगा घट बनाएगा ठीक इस प्रकार आत्मा में अध्यास कर्तृत्व अध्यास के पहले ता कर्तृत्व है कृतिमत्वम कर्तृत्वम शक्ति कृति प्रयत्न प्रयत्न करेगा आत्मा फिर अध्यास करेगा जैसे कुलाल प्रयत्न करके घट बनाता है तो कुलाल में घट बनाने के पहले कर्तृत्वम कर्तृत्व कृतिमत्वम कृते प्रयत्न कुलाल प्रयत्न करेगा घट बनेगा घट बनाने के पहले कुलाल प्रयत्न करेगा या नहीं पहले करेगा कृतिम देव कर्तृत्व तो पहले मानना पड़ेगा कर्तृत्व से प्राग भाव नियमात क्योंकि कर्तृत्व कृतिम तो कृति प्रयत्न कार्य के पूर्व क्षण में होगा तो कार्य बनेगा कर्तृत्व से प्राग भाव नियमित प्राग भाव प्राग सत्व कार्य के पूर्वक्षण में कृतिमत्व रूप शक्ति कृति होनी चाहिए कृत्य होने पर कार्य बनेगा यदि अध्यास कर, कर अध्यास होने के पहले आत्मा में कृति मानेंगे कर्तृत्व मानेंगे तो फिर कर्तृत्व तो क्या हो गया आविद्य का नहीं हुआ वास्तव हो गया अविद्या अध्यास आरोप होने के पहले यदि आत्मा में कुछ मान लिया वो वास्तव हो जाएगा जब वास्तव है उसकी निवृत्ति कैसे होगी निवृत्ति नहीं होगी तथा अनिर्मोक्ष प्रसंग इसे लोक अध्यार शब्द में लोक शब्द से आत्मा लेंगे तो आत्मा में अध्यास कर्तृत्व मानना पड़ेगा अध्यास कर्तृत्व का अर्थ अध्यास के पहले कर्तृत्व रहेगा कि शक्ति अध्यास के पहले जो कर्तृत्व धर्म है वह वास्तव मानना पड़ेगा वास्तव होगा तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा अनिर्मोक्ष प्रसंग यदि कहेंगे नहीं अध्यास कर्तृत्व आत्मा में तो है किंतु वो कर्तृत्व आरोपित है अध्यास जिस प्रकार आरोपित है अध्यास कर्तृत्व भी आत्मा में आरोपित कर्तृत्व से अध्यासत्व च कर्तृत्व को जित आरोप मानेंगे आरोप होने के लिए अध्यास कर्तृत्व आत्मा में कर्तृत्व जित आरोप रूप होगा न कर्तृत्वम आत्मनस्तद तद विषय अंतर्भावात यदि कर्तृत्व स्वयं आरोप रूप होगा तो अध्यास कर्तृत्व तो आत्मा में नहीं आएगा क्योंकि अध्यास कर कर्तृत्व तो यदि आरोप होगा आरोप ही कर्तृत्व कर्तृत्व तो आरोपित है आरोपित होगा उसको आरोप करने के लिए और एक चाहिए न कर्तृत्वम आत्मनः आत्मा में अध्यास कर्तृत्व तो नहीं आएगा क्योंकि तद विषय अंतर अभावात तो से आरोप करने के लिए कर्तृत्व अध्यास करने के लिए और एक कर्तृत्व मानना पड़ेगा कर्तृत्व विषय का कर्तृत्व पहले आरोप करने के लिए कर्तृत्व फिर कर्तृत्व आरोप करने के लिए और एक कर्तृत्व ऐसे तो नहीं दिखता आत्मा में दो कर्तृत्व एक आरोप कर्तृत्व है कि फिर आरोप के कारण फिर अध्यास कर्तृत्व ऐसे अध्यास नहीं है होता है यदि मानेंगे यदि कर्तृत्व का आरोप करने के लिए और एक अध्यास कर्तृत्व वो भी अध्यास मिथ्या है उसके लिए और एक कर्तृत्व वो भी मिथ्या है उसके लिए और एक कर्तृत्व अध्यास अभ्यास करते तो मानते जाओ तो अनवस्था दो से भावी च अनवस्था ना था अध्यास पहले अध्यास होने के बाद आरोपित वस्तु है और अध्यास होने के पहले जो कर्तृत्व तो मान लिया क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व रहने पर ही आरोप अध्यास कार्य बनेगा कार्य अध्यास बनाने के लिए उसके पहले शक्ति माननी चाहिए कृतिमत्व कर्तृत्व वो कृतिमत्व कर्तृत्व को पारमार्थिक मानेंगे तो मोक्ष नहीं होगा पारमार्थिक नहीं आरोपित माने तो उसको आरोप करने के लिए और एक अध्यास करते तो चाहिए वो भी अध्यास करते तो आरोपित मानेंगे तो उसके भी अध्यास करते तो तो अनवस्था दोष है इसीलिए लोक अध्यारोप शब्द से लोक शब्द से आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता ये सिद्ध हुआ लोक अध्यारोप अपहार्थत्वात् तो लोक शब्द से आत्मा लेंगे अथवा अनात्मा ये विकल्प हुआ था आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है आत्मा आरोप करेगा ये बनेगा नहीं आत्मा यदि आरोप करेगा ऐसा मानेंगे आरोप का अर्थ अध्यास अध्यास का कर्ता बनेगा आत्मा अध्यास का कर्ता आत्मा नहीं हो सकता है यदि मानेंगे तो अध्यास रूप कार्य होने के पहले आत्मा में कर्तृत्व कृतिमत्व अध्यास की शक्ति होनी चाहिए जैसे कुलाल घट बनाने के पहले रहता है उसमें घट बनाने की शक्ति है तब तो घट बनाता है लोक अध्यारोप में लोक का आरोप आरोप अध्यास अध्यास का कर्ता यदि आत्मा को मानेंगे तो अध्यास के पहले उसमें शक्ति मानेंगे वो वास्तव होगा तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी मोक्ष नहीं होगा और शक्ति भी आरोपित कहेंगे कर्तृत्व भी आरोपित कहेंगे तो आरोपित करने के लिए उसको आरोप करने के और एक अध्यास मानो फिर उसको आरोप करने और एक मानो तो अनवस्था दोष इसलिए लोक शब्द से आत्मा नहीं ले सकते हैं अभी द्वितीय पक्ष रहेगा अनात्मा न द्वितीय द्वितीय अनात्मा जड़ है चेतन है जड़त्वाद अनात्मनो अनात्मा जड़ है जो जड़ है अनात्मा वो अध्यास का कर्ता बनेगा चैत्र आरोप करता है रज्जु में सर्प श्रुति में रजत ये तो ठीक है और कोई अनात्मा बैठ करके घड़ा आरोप करता है सुक्ति में रजत रज में सर्प जड़ अध्यास का कर्ता बनेगा जड़ से अनात्मन अध्यास कर्तृत्व अनुपपते क्योंकि लोक में दिखा गया चेतनो ही देवदत्त अध्यस्यति इति प्रसिद्धम चेतन देवदत्त है क्या देवदत्त आरोप करता रज में सर्प सुक्ति में रजति तो प्रसिद्ध है कहीं जड़ आरोप करता तो प्रसिद्ध नहीं अथ जड़ से अध्यास करते नाम भ्रांति आश्रयत्वम यद्यपि न संभवती अच्छा अभी कहते जड़ में अध्यास कर्तृत्व अध्यास कर्तृत्व तो करता होता है देवदत्त राज्य में सर्प आरोप करता है सर्प आरोप करता है जो देवदत्त सर्प का आरोप है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है क्या सर्प का जो आरोप राज्य में ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान का आश्रय कौन होता है क्या है कौन है आरोप करता है कौन सा चेतन है देवदत्त राज्य में सर्प आरोप करता है तो आरोप का कर्ता कौन हुआ देवदत्त ये तो कहना है भ्रांति का आश्रय फिर कौन होगा जो आरोप करता है आरोप ब्रह्म ज्ञान है क्या ब्र, नहीं ब्रह्म ज्ञान नहीं आरोप ब्रह्म ज्ञान है यथार्थ है ब्रह्म ज्ञान है तो उसका आश्रय कौन है देवदत्त देवदत्त राज्य में सर्प आरोप करके डरता है आरोप ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान का आश्रय कौन हुआ देवतत्व हुआ ये देवतत्व चेतन ही देवतत्व अध्यस्यति प्रसिद्धम अध्यास करता आरोप करता है करता ना नहीं जड़ अध्यास करता है ब्रह्म का आश्रय जड़ बनेगा भ्रांति का आश्रय चेतन होता है देवदत्त आदि कहते ठीक है जड़ होने से अध्यास कर्तृत्व भ्रांति आश्रय तो यद्यपि न संभवती ब्रह्म ज्ञान का आश्रय जड़ नहीं बनेगा देवदत्ता भी चेतन बनते हैं ठीक है कोई बात नहीं किंतु भ्रांति का निमित्त जड़ हो सकता है या नहीं भ्रांति का आश्रय भ्रांत भ्रांति के आश्रय को कहते भ्रांत भ्रांति है ब्रह्म ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उसको क्या कहते भ्रांत भ्रांति का आश्रय रज्जु है या देवदत्त है देवदत्त है भ्रांत कोई रज्जु को भ्रांत कहता है नहीं देवदत्त है भ्रांत अभी शंका करते भ्रांति का आश्रय चेतन नहीं बनेगा किंतु भ्रांति का भ्रांति का आश्रय चेतन बनेगा जड़ भ्रांति का आश्रय जड़ नहीं बनेगा किंतु भ्रांति का निमित्त जड़ बन सकता है यानी भ्रांति का अभी कर्तृत्व नाम भ्रांति आश्रयत्वम यद्यपि न संभवति कस्य जड़ से जड़ में अध्यास कर्तृत्व तो का अर्थ भ्रांति आश्रयत्वम जड़ में संभव नहीं तथापि भ्रांति निमित्तत्वम दृष्टम भ्रांति का निमित्त दिखा गया जड़ भ्रांत जड़ में भ्रांति निमित्तत्व तो दिखा गया कहां दिखा गया जपा कुसुम आदि जपा कुसुम पुष्प है ये पुष्प है जपा कुसुम बड़ा होता है जपा कुसुम स्फटिक के पास रखेंगे तो स्फटिक में क्या वर्ण दिखता है पुष्प रहन से लाल दिखता है आपको पता चलिया है पुष्प के कारण स्फटिक में रक्त वर्ण दिखता है ज्ञान होने के बाद स्फटिक वर्ण दिखेगा सब शुक्र दिखेगा ज्ञान होने के बाद भी रक्त दिखेगा हाँ ये जपा कुसुम जब तक है तब तक लाल दिखता है तो ये जपा कुसुम जड़ है या चेतन है भ्रम का निमित्त हो सकता है इसके कारण ही भ्रम हुआ स्फटिक में रक्त वर्ण दिखता है तो जपा कुसुम जड़ भ्रांति का निमित्त हो सकता है उसको देखने वाले चेतन है देवदत्त कहता है रक्त स्फटिक भ्रांति का आश्रय कौन हुआ देवदत्त जपा कुसुम भ्रांति का आश्रय हुआ भ्रांति का निमित्त हो सकता है जड़ भ्रम का आश्रय अध्यास करता नहीं होने पर भी अध्यास का निमित्त हो सकता है दिखा गया जपा कुसुम दिखा गया भ्रांति निमित्त तुम दृष्टम जपा कुसुमादे ये कहने पर कहते हैं न पूरा पीछे कहता न पूरा पीछे कहता है अध्यास कैसे होगा लोक अध्यारोप तत्व भगवान भाष्यकार ने कहा इसके विरुद्ध में पूरा पीछे आरंभ करता है बड़ा जोर से अध्यास लोक अध्यारोप क्या बनेगा अध्यारोप कैसे होता है कौन आरोप करता है चेतन करता है जड़ करता है चेतन अध्यास करता होगा क्या शुद्ध चेतन नहीं होगा और जड़ अध्यास का करता करेगा भ्रांत होगा नहीं तो सिद्धांत के तरफ से कहते भ्रांति का निमित्त तो हो जाएगा पूर्व से कहता न तस्य से उपाधित्व संभवात वो सत्य उपाधि होता है मिथ्या वस्तु का उपाधि होगा जपा कुसुम सत्य है ये उपाधि हो सकती उपाधि जपा कुसुम पास में रखेंगे तो स्फटिक लाल दिखता है जपा कुसुम सत्य है सत्य हो तो उपाधि बनेगा कल्पित नहीं है सत्य से उपाधि तो जपा कुसुम जो जड़ है अध्यास का निमित्त होता है वो सत्य है आगे अध्यास होगा ब्रह्म होगा अध्यास के पहले जो रहता है निमित्त अध्यास के पूर्व जो रहा निमित्त स्फटिके में रक्त वर्ण का आरोप होता है उसके पहले जपा का समय है आरोप के पहले जो वस्तु सत्य है मिथ्या है सत्य है तो सत्यस्य उपाधि तो संभवाद सत्य उपाधि सत्य उपाधि कौन से पूर्व पिछित कहता है उपाधि होने के लिए सत्य होना चाहिए अरे वेदांति क्या मानेंगे व्यावहारिक सत्य होना पारमार्थिक सत्य होना चाहिए क्या पूर्व पीछे कहता सत्य होगा तो उपाधि बनेगी भाष्यकार मत तच जड़ से अध्यास अध्यासात्मकत्वात् और भगवान भाष्यकार कहते जितने जड़ है सब आरोपित अध्यासात्मक अध्यस्यति अध्यास अध्यास का विषय विषय भ्रांति का विषय जितने जड़ है सब मिथ्या है भाष्यकार मत में जड़ जितने सब मिथ्या है अध्यासात्मक है अध्यास शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है ज्ञेय भी होता है इसे दो प्रकार अध्यास कहते अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास ज्ञानमेव अध्यास इति ज्ञानाध्यास अर्थश्च स्वाध्यासश्चिति अर्थाध्यास राज्य में सर्प ज्ञान भ्रांति काल में होता है कभी वो ज्ञान है अर्थ है हैं क्या क्या है ज्ञान है राज्य में सर्प ज्ञान का भी होता है क्या वो ज्ञान है अर्थ है कौन सर्प ज्ञान है वो अभ्यास है ज्ञान अभ्यास उसको कहते हैं राज्य में जो सर्प ज्ञान है भ्रम ज्ञान उसको क्या कहते हैं ज्ञानाध्यास अभ्यास में यहां अध्यसनम अध्यास भावे गय अधिपूर्वक कसदा से भावे घय करो अध्यास वा अध्यसनम अध्यास का अर्थ ब्रह्म ज्ञान ज्ञानम च असो अध्यासश्चेति ज्ञानाध्यास रज्जु में सर्प ज्ञान अध्यास है ज्ञान है इसको कहते ज्ञानाध्यास एक होता अर्थाध्यास अध्यस्यते इति अध्यास कर्मणि घय करेंगे अध्यास का विषय अध्यस्यते आरोप्यते इति अध्यास अध्यस्यते इति अध्यास करेंगे तो अध्यास शब्द का क्या अर्थ होगा अध्यस्यते इति अध्यास अध्यास शब्द का अर्थ अध्यास का विषय ज्ञान का विषय क्या अध्यास यहां रजु सर्प अध्यस्यते रज्जाम किम अध्यस्यते सर्प अध्यस्यते इति अध्यास कहेंगे तो सर्प हो गया अध्यास अभी सर्प ज्ञान अध्यास कहा गया था अभी अध्यास कहते सर्प अभी बताओ सर्प अध्यास है या सर्प ज्ञान अध्यास है दोनों अध्यास है सर्प ज्ञान भी अध्यास है सर्प भी अध्यास है दोनों को अध्यास शब्द से तो कहा जाएगा किंतु अध्यास शब्द की व्युत्पत्ति करते समय जब सर्प को अध्यास कहेंगे वहां अध्यास शब्द में घय प्रत्यय किस अर्थ में होगा कर्मणि अध्यस्यति अध्यास अध्यास का विषय और यदि सर्प ज्ञान को अध्यास कहेंगे वहां घय प्रत्यय होगा घय प्रत्यय होगा भाव में अध्यसनम अध्यास आरोप ब्रह्म ज्ञान तो अध्यसनम अध्यास कहेंगे तो अध्यास का क्या अर्थ होगा ज्ञान अध्यास और अध्यस्यति अध्यास कहेंगे तो अध्यास का अर्थ अर्थ हो जाएगा तो अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दो हुआ सर्प ज्ञान को कहते ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास हो गया सर्प ब्रह्म ज्ञान का विषय जो सर्प है ब्रह्म ज्ञान का विषय सर्प वहां है क्या अनिर्वचनीय सर्प है ब्रह्म ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय सर्प है वास्तव सर्प नहीं अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय क्यों राज्य में सर्प दिखता है वो सर्प को सत कहेंगे असत कहेंगे सत यदि होगा उसका बाध नहीं होना चाहिए रज्जु ज्ञान होने के बाद सर्प ज्ञान रहेगा सर्प रहता है सर्व का बाध होता है इसलिए सत नहीं सचेत न बाध्यत रज्जु में जो सर्प दिखता है उसको असत मानने के तो असचेन न प्रतीयत असत की प्रतीत नहीं होती प्रत्यक्ष दिखता है रज्जु में सर्प भ्रांति काल में इसलिए उसको असत नहीं कह सकते तो रज्जु सर्प सत हुआ असत हुआ तो दोनों मिलाकर के मानो सत और असत उभय ये भी संभव नहीं कोई पदार्थ नहीं जो सत भी असत हो तो राज्य में सर्प सत नहीं असत नहीं उभय नहीं तो फिर क्या कहेंगे उसको सत्यन वक्तुम शक्यते रज्जु सर्प असद रूपेण निर्वक्तुम शक्यते सद असत उभय रूप से कह सकते हैं तो इसलिए कहते अनिर्वचनीय जिसको सद रूपेण वक्तु न शक्यते असद रूपेण निर्वक्तु न शक्यते सद असत उभय रूप से जिसका निरूपण नहीं कर सकते उसको कहते अनिर्वचनीय तो रज्जु सर्प ज्ञान का विषय जो अनिर्वचनीय सर्प है इसको कहते हैं अध्यास कैसा अध्यास अर्थाध्यास तो अभी राज्य में सर्प अर्थाध्यास हुआ ज्ञानाध्यास हुआ राज्य में सर्प हो गया अर्थाध्यास और सुक्ति में रजत क्या होगा राज्य में सर्प भी अर्थाध्यास सुक्ति में रजत भी अर्थाध्यास सर्प का ज्ञान राज्य में सर्प ज्ञान ज्ञानाध्यास और सुक्त में रजत ज्ञान ज्ञानाध्यास दो हो गया एक अर्थाध्यास एक ज्ञानाध्यास ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास दो प्रकार है अर्थात अध्यास का विषय को भी अध्यास कहते हैं तो जड़ से सर्व से अध्यास आत्मकत्वाद भगवान भाष्यकार कहते हैं जितने जड़ सो अध्यास है अध्यास का क्या अर्थ है ज्ञानाध्यास है अर्थाध्यास अर्थाध्यास देखो दिया है भाष्यकार मते जड़ से सर्व से अध्यासात्मकत्वाद सारे जड़ अध्यासात्मक है अध्यासात्मक का मतलब अर्थाध्यास ब्रह्म ज्ञान का विषय सब अनिर्वचनीय है सारे जड़ मिथ्या है जो मिथ्या अध्यासात्मक होने से क्या हुआ अर्थाध्यास अर्थाध्यास जो होता है वो सत्य है सत्य असत होता है अनिर्वचन होता है अनिर्वचन सत्य है क्या रज्जु में सर्प सत्य है मिथ्या है मिथ्या कहाँ हेतु तो होगा अध्यास के हेतु तो होगा स्फटिक के पास जपा कुसुम रखा वो अध्यास का हेतु होता है और यदि सत्य नहीं कल्पित वस्तु होगा अध्यास का हेतु नहीं बनेगा स्वयं सत्य वस्तु अध्यास का हेतु है और वो जड़ सब मिथ्या है सारे जड़ मिथ्या है तो वो मिथ्या जड़ अध्यास का हेतु नहीं होगा वस्तु पहले हो तो अध्यास का हेतु होगा जो है ही नहीं वस्तु है ही नहीं वो अध्यास का हेतु नहीं होगा भाषिकार मत में जड़ जितने सब मिथ्या है अध्यासात्मक जो मिथ्या है अध्यासात्मक वो जड़ अध्यास का हेतु नहीं होगा इसलिए जड़ अध्यास का निमित्त हम्म, नहीं जोर से बोलो जो पता चलेगा सबको जड़ अध्यास का निमित्त बन जाएगा बनेगा नहीं बोलना जरूरत नहीं नहीं जोर से बोलो जड़ अध्यास का निमित्त हो जाएगा ना नहीं कौन कहता है पूरा पिछ कहता नहीं बनेगा सिद्धांत कहता है अध्यास का ब्रह्म ज्ञान का आश्रय नहीं होगा किंतु निमित्त तो बन जाएगा जपा कुसुम दिखा गया जड़ है अध्यास का निमित्त होता है निमित्त होता है पूर्व पिछ कहता है वो सत्य है जपा कुसुम वो तो निमित्त बन जाएगा और आपके भाष्यकार मत के अनुसार सब कहते जितने जड़ सब अध्यासात्मक है अर्थाध्यास मिथ्या है सारे जड़ मिथ्या है तो अध्यास का निमित्त मिथ्या वस्तु कैसे बनेगा मिथ्या वस्तु नहीं बनेगी अध्यास का निमित्त पूर्व जी कहता है जड़ से सर्व तो से अध्यास आत्मकत्वा तो अध्यासित तो न समति तस्माद असंबद्धमिदं भाष्यम ये भाष्य के ऊपर आक्षेप है ये जो भाष्य असंबद्धम कोई संबंध नहीं क्या भाष्य लोकाध्यारोप अपहार्थत्वादि लोका अध्यारोप अपहार्थत्वात् ज्ञान उपदेश लोकानाम अध्यारोप लोक जो आरोप करते हैं उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान बोध उपदेश पहले आरोप करने वाला कोई हो आरोप सिद्ध हो तो उसकी निवृत्ति करेंगे आरोप का कर्ता कोई सिद्ध नहीं हुआ तो आरोप ही सिद्ध नहीं होगा तो किसको निवृत्ति करना बोध उपदेश करके बोध उपदेश करते भ्रम निवृत्ति के लिए भ्रांत कौन है पहले बताओ भ्रांत जड़ है या शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन भ्रांत होगा नहीं और जड़ को भ्रांत कहीं कहते तो फिर उपदेश किसको करना जड़ को उपदेश करेंगे या चेतन को जड़ को उपदेश करेंगे तो जड़ को कहेंगे तुम ब्रह्म हो जो मिथ्या वस्तु उसको कहेंगे तुम ब्रह्म हो उसको ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म सत्य होगा क्या तो नहीं उसको ज्ञान होगा ही नहीं अशुद्ध ब्रह्म को ज्ञान का उपदेश की आवश्यकता है जरूरत नहीं तो फिर उपदेश कहाँ है या उपदेश किस लिए और आरोप को निवृत्ति के लिए आरोप हो तो सिद्ध हो तो आरोप का कर्ता जड़ है या चेतन है दो विकल्प क्या चेतन जड़ तो नहीं हो सकता है आरोप का कर्ता कहीं चैत्र रज में सर्प दिखता है सुक्ति में रजत दिखता है कहीं सुक्ति समय में रजत आरोप करती है सत तो नहीं दिखा गया तो सिद्धांति के तरफ से शंका हुई जड़ अध्यास का कर्ता तो नहीं हो सकता आरोप का भ्रांति का आश्रय नहीं होगा किंतु भ्रांति का निमित्त हो सकता है जैसे जपा कुसुम पुष्प जड़ है स्फटिक में रक्त भ्रम होने के लिए निमित्त हो जाता है जड़ निमित्त हो जाएगा पूरा पीछे कहता है सत्य होगा तो निमित्त बनेगा सत्य उपाधि बनती है जपा कुसुम उपाधि सत्य होने से उपाधि है और आ जड़ तो सब मिथ्या है उपाधि नहीं निमित्त नहीं बनेगा यदि जड़ निमित्त नहीं बनेगा भ्रांति का आश्रय बन जाएगा जड़ पहले से चला गया भ्रांति का आश्रय नहीं बनेगा भ्रांति का निमित्त खाता वो भी नहीं बनेगा क्योंकि मिथ्या है सारे जड़ तो फिर भ्रांति किसको है किसकी भ्रांति है तो अध्यास निवृत्ति के लिए लोकों का जो अध्यारोप है अध्यास आरोप उसका अपोह अपोह की निवृत्ति निवृत्ति के लिए बोधोपदेश है ये भाष्य तो ठीक नहीं है इसके ऊपर उत्तर देते हैं लोक शब्द न अहंकारादय उच्यन्ते लोक शब्द से ना तो शुद्ध चेतन लेना ना जड़ लेना और किसको लेना अहंकार आदय अहंकार आदि क्या है अहंकार में चेतन का तादात्म्य अध्यास होता है चिद्वा चिदाभास इसको कहते आत्मा अनात्मा की ग्रंथि ग्रंथि गांठ गांठ धागा में गांठ पड़ी क्या खींचो तो खुल जाता है या क्या होता है और और मजबूत होता है और ज्यादा हो गया तो खोल नहीं पाएंगे तो ग्रंथि इसी प्रकार आत्मा अनात्मा की ग्रंथि तादात्म अध्यास एकत्व भ्रम एकत्व भ्रम अनादि काल से इतने दृढ़ है समझने के बाद भी जितने समझे तो अहम कहते समय आत्मा अनात्मा दोनों को लेकर के कभी आत्मा अनात्मा अलग-अलग यदि देखा होता ना ऐसे लोहा अलग अग्नि अलग देखने से लोह को लाल कर दिया तो समझ में आ जाता है यहाँ लोह अग्नि दोनों मिलकर के दिखते हैं क्योंकि अलग लोहा अलग अग्नि हम देखते हैं इसी प्रकार यदि आत्मा अलग अनात्मा अलग ऐसे दिखे तो आत्मा अनात्मा का अध्यास दिखेगा ऐसे नहीं दिखता है जिसको हम अनात्मा कहते देखते हैं वह आत्मा है क्या शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन कोई देखा है अनात्मा के बिना आत्मा अनात्मा अलग नहीं दिखा जो अनात्मा जिसको कहते वो भी चेतन वहां भी है इसलिए दोनों का तादात्म्य आरोप होकर के ये जीव जिसको कहते हैं जिसको जीव कहते शुद्ध चेतन को जीव कहते ना देखा है शुद्ध चेतन किसने ये सब को जीव कहते जीव क्या दिखता है आपको जड़ दिखता है चेतन दिखता है शुद्ध चेतन दिखता है शरीर दिखता है तो ये शरीर जो दिखता है ये है चैदावास विशिष्ट दिखता है चेतन का प्रतिबिंब अंतकण में हुआ चिदाभास के संबंध से अंतकण का संबंध इंद्रिय के साथ उस इंद्रिय का संबंध शरीर के साथ तभी शरीर में चिदाभास युक्त होने से इसको चेतन कहते हैं सूक्ष्म शरीर चल जाएगा तो वही शरीर पड़ा हुआ है उसको कहते चेतन मर गया मर गया राम नाम सत्य जो दिखता है और विशिष्ट दिखता है अहंकार आदि उसको लोक शब्द से कहा गया लोक शब्द न अहंकार आदि उच्चंदे आत्मा अनात्म ग्रंथि तादात्म अध्यासापन्न चिदाभास विशिष्ट जो देहादि है इसको जीव कहते चिदाभास है तो जीव पत्थर में दीवार में चिदाभास नहीं होने से उसको जड़ कहते हैं जड़ चेतन का विभाग शुद्ध चेतन को लेकर के नहीं है शुद्ध चेतन सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है शुद्ध चेतन सत्रित है ही नहीं जड़ कहने के लिए चिदाभास जहां है उसको कहेंगे चेतन चिदाभास नहीं तो जड़ तो यहां लोक शब्द से अहंकार आदि कहा गया तेषां व्यावहारिक सत्यत्वस्य अर्थ क्रिया समर्थत्व न अभिभगमात अभी जो अहंकार आदि चेतन है जिसको हम चेतन कहते हैं वो सत्य है या मिथ्या है मिथ्या तो है उसको भी मिथ्या कर दिया तो फिर चेतन कहाँ रहा किसको चेतन कहेंगे कोई पारमार्थिक चेतन दिखाए है किसने इसको ही सत्य मान करके व्यवहार किया जाता है वही कर्त कर्म करता है कर्म फल भोग करता है सुखी दुखी होता है जो अर्थ क्रिया समर्थ होता है वही सत्य है लोक में उसको सत्य मानते हैं देखो ये कहा ते तेसाम व्यावहारिक सत्यत्वस्य व्यावहारिक सत्य माना जाता है व्यवहार काल में वही सत्य है अहंकार आदि के उसके व्यावहारिक सत्य मानते हैं एक तो पारमार्थिक सत्य है ब्रह्म त्रिकालाबाध्य और एक प्रातिभाषिक वस्तु है राज्य में सर्प राज्य में जो सर्प है वो सर्प व्यावहारिक है के है प्रातिभाषिक उसको कहेंगे जिसको जिसका बाध ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाता है ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो राज्य में सर्प जो देखा था उसका बाद हो सकता है रज्जु देखने के बाद सर्प का बाद होता है ब्रह्म ज्ञान के बिना इसलिए राज्य में सर्प का हुआ किंतु रज्जु प्रतिभाषी कहे ब्रह्म ज्ञान के बिना रज्जु का बाध होगा रज्जु व्यावहारिक है जिस प्रकार रज्जु व्यावहारिक है उसको सत्य मानते हैं जपा समय व्यावहारिक को सत्य कहता है पूर्व पीछे अहंकार आदि भी सत्य है व्यावहारिक सत्य व्यावहारिक सत्य तो से अर्थ क्रिया समर्थत्वेन उसको सत्य क्यों मानते क्योंकि अर्थ क्रिया समर्थ है अर्थ क्रिया प्रयोजन का सिद्धि के लिए समर्थ होता है कुछ करता है कर्म फल भुगता है सुखी दुखी होता है इसे उसको व्यावहारिक सत्य मानते हैं अहंकार आदि को सद्धर्म आरोप निमित्तत्वेन उपाधित्व संभवात परमार्थ सत्य से उपाधित्व मित्य अस्मान प्रति दृष्टांत अभावाद सिद्धांत कहता है आपने कहा था सत्य से उपाधित्व संभवात जपा कुसुम उपाधि है क्योंकि सत्य है हाँ सत्य ठीक है आपने कहा सत्य है किंतु पारमार्थिक सत्य होगा तो उपाधि है पारमार्थिक सत्य होगा तो उपाधि होगी ये कौन दृष्टांत बताओ क्या हमको वेदांती पारमार्थिक सत्य किसको मानते हैं ब्रह्म को ब्रह्म से बिना किसको मानते हैं अब पारमार्थिक सत्य हो तो उपाधि होगी क्या दृष्टांत हमको बताओगे हमको नहीं बता सकते है परमार्थ सत्य से उपाधित्वमिति अस्मान प्रति दृष्टांत अभावत हमारे प्रति दृष्टांत नहीं कोई दृष्टांत देता अनुमान करेगा तो अपने मत से दृष्टांत बनेगा क्या दूसरे को भी ग्राह्य होना चाहिए आपको तो जैसे जपा कुसुम सत्य है उपाधि है इसी प्रकार कोई सत्य होगा तो उपाधि होगी जड़ तो मिथ्या है उपाधि नहीं होगी इसे सिद्धांत कहता है परमा परमात सत्य होना कोई जरूर नहीं है जो अर्थ क्रिया समर्थ है उसको व्यावहारिक सत्य कहते हैं व्यावहारिक सत्य जिस प्रकार अहंकार आदि है इस प्रकार रज्जु भी है इसी प्रकार जपा कुसुम है ये सब घटपट आदि सब व्यावहारिक सत्य है व्यावहारिक सत्य होने से उपाधि संभव है उसको उपाधि क्यों कहेंगे उपसमिते स्व धर्मान समय समीप में अपने धर्म को उत्पन्न कर लेता तो उपाधि है जपा कुसुम उपाधि क्यों है उसके समीप स्फटिका में अपना धर्म रक्त रूप उत्पन्न कर लेता है दिखा देता है उत्पन्न तो नहीं होता है दिखा देता है स्वधर्म आरोप निमित्त स्वधर्म जपा कुसुम का धर्म है रक्ति में उसका आरोप होता है स्फटिक में उसका निमित्त है जपा कुसुम स्वधर्म आरोप निमित्त होने से उपाधि हुआ इसी प्रकार अहंकार आदि भी उपाधि है अपने धर्म आरोप का निमित्त है अहंकार आदि में धर्म है सुख दुख आदि उसका निमित्त आरोप होता है आत्मा में आत्मा में सुख दुख आदि का जो आरोप होता है उसका निमित्त है अहंकार इसलिए उसको उपाधि कहते हैं स्वधर्म आरोप उपाधि तो संभवात अहंकार आदि उपाधि है परमार्थ सत्य उपाधि इसमें कोई हमारे प्रति दृष्टांत नहीं अहंकार आदेश चितंत्र अनादि अनिर्वाच्य अविद्यामय भूत सूक्ष्म विकारा अविद्या अवच्छिन्नेव चैतन्य निपतन्ति अहंकार आदि है कहाँ है अविद्यामय भूत सूक्ष्म विकारा अहंकार आदि किससे उत्पन्न तो अहंकार मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि सब भौतिक है चित तंत्र अविद्या है चेतन के में आश्रित है अविद्या अविद्या अनादि है और अनिर्वाच्य है चितंत्र अनादि अनिर्वाच्य अविद्या और भूत है अविद्यामय अविद्या से ही भूत उत्पन्न है अविद्यामय भूत सूक्ष्म शरीर भूत सूक्ष्म विकार भूत सूक्ष्म का कार्य है अहंकार आदि अपंचीकृत पंच महाभूत के कार्य अं, सत्व गुण का कार्य अंतकरण रजगुण का कार्य है प्राण पृथक-पृथक सत्व गुण का कार्य है ज्ञानेंद्रिय पृथक-पृथक रजगुण का कार्य है कर्मेंद्रिय इसी प्रकार से वो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म भूत से बनते तो वो जो जितने हैं अहंकार आदि वो अविद्यावचन चैतन्य में ही रहते हैं अविद्या विशिष्ट चैतन्य एवं निपतंती उसके अंतर्गत हमें आश्रय होते अविद्यावचन चैतन्य में आश्रित होते हैं अभी लोक अध्यारोप निमित्त अध्यारोप अपहार्थत्वाद ये सिद्धांत ने कहा उसका अर्थ स्पष्ट आरु होगा अभी केवल इतने कह दिया लोक शब्द से किसको लेना अहंकार आदि को लेना है ॐ आप्यायन्